नारा यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वरात् तेनेव ब्रह्महृदाय आदिकवये निह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदाम् यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम् परम् धीमहि सत्यम् परम् धीमहि सत्यम परम धीमही आप लोग सब बोले सत्यम परम धीमही सत्यम परम धीमही सत्यम परम धीमही श्री कृष्ण भगवान भगवान व्यास जी ने इस श्रीमद भागवत ग्रंथ की रचना करके भगवान के पास जाकर के उनको निवेदन किया व्यास जी ने कहा भगवान विष्णु से महाराज ये हमने इस ग्रंथ की रचना की है इसमें आपकी महिमा का वर्णन है व्यास जी ने कहा व्यास जी ने कहा अच्छा तो फिर इस ग्रंथ का नाम क्या है भगवान ने व्यास जी से पूछा कि ये जिस ग्रंथ की तुमने रचना की है इसका नाम क्या रखा है व्यास जी ने कहा इसका नाम है भागवत इसका अर्थ क्या है भगवता प्रोक्तम भागवत ये भगवान का कहा हुआ है इसमें भगवान की महिमा है इसका नाम है भागवत वहां से लक्ष्मी जी बैठी थी उन्होंने कहा तो फिर इस ग्रंथ में मेरा तो नाम आया ही नहीं तो व्यास जी ने कहा कि माता जी भगवत क्या पुरोत्तम भी भागवती होता है भगवती का कहा हुआ भी भागवत ही बनता है व्याकरण में आपका भी नाम इस तरह से आ गया तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं इस तरह से अपना नाम नहीं चाहती स्पष्ट रूप से मेरा नाम आना चाहिए तो फिर व्यास जी ने उसके पीछे श्रीमद और लगा दिया और श्री जी का नाम स्पष्ट आ गया इसका नाम हो गया श्रीमद भागवत तो इसके भागवत का आरंभ करने से पहले इसका जो प्रतिपाद्य देवता है प्रतिपाद्य जो तत्व है उसका स्मरण श्री व्यास जी ने किया उन्होंने बताया कि इसमें किस तत्व का प्रतिपादन किया जाता है पहले श्लोक में ही बात बताई है जन्माद्य से यथोन्मयादित रतश्चारथे स्वराट तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वा निमृगाम् यथा विनिमयो यो सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तुहक सत्यम परम धीमहि व्यास जी कहते हैं कि इस विश्व का जहां से जन्म होता है इस विश्व की जिससे उत्पत्ति होती है जिसके द्वारा इसका पालन हो रहा है और अंत में जिसमें ये लीन हो जाता है उस परम सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं व्यास जी ने यहां ये नहीं कहा कि विष्णु धीमही या शिवम धीमही या दुर्गाम धीमही हम दुर्गा का ध्यान करते हैं या शिव का ध्यान करते हैं या विष्णु का ध्यान करते हैं ये किसी देवता विशेष का नाम न ले करके व्यास जी ने ये कहा सत्यम परम थी मई हम उस परम सत्य परमात्मा का ध्यान करते हैं जो इस विश्व की जिससे उत्पत्ति होती है जो इस विश्व का पालन कर रहा है और अंत में जिसमें ये सारा विश्व लीन हो जाता है यथोवायमान भूतान जायंते ये न जाता न जीवंती यत प्रयंत विषमृशंती जैसे जो श्रुति जिस तत्व का प्रतिपादन करती है उसी को व्यास जी ने इससे प्रतिपादन किया और संसार के सभी पदार्थों में जो अन्वित है पदार्थ परस्पर व्यावृत हैं पदार्थों का परस्पर व्यतिरेक है घट पट नहीं हो सकता पट घट नहीं हो सकता परंतु परमात्मा संपूर्ण पदार्थों में अनुगत हैं अन्वित हैं तो कोई कहे कि आप क्या सांख्यों की प्रकृति सांख्य वाले तो प्रकृति को मानते हैं कि प्रकृति जगत में व्यापक है तो कहते हैं नहीं नहीं प्रकृति तो जड़ है हम उस परमात्मा जो चेतन है उसको कह रहे हैं अभिज्ञ वो चेतन है और उसकी चेतनता कहीं दूसरी जगह से दूसरे के से नहीं आई हुई है उस स्वराट स्वतः सिद्ध ज्ञानवान है तो क्या ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी नहीं ब्रह्मा को तो उन्होंने वेदों का ज्ञान स्वतः प्रदान किया है यो ब्रह्मांड विदात पूर्वम यो वही वेदांश प्रवीणोति तस्मयी ब्रह्मा जी के लिए वेदों का ज्ञान जिसने हमें दिया वो परम सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं ब्रह्मा जी ने किसी से वेद पढ़े ये बात तो प्रसिद्ध नहीं है क्योंकि तो नहीं हरदा संकल्प मात्र है भगवान ने ब्रह्मा जी को जैसे कोई अध्यात्म विद्यार्थी को पढ़ाता है ऐसे पढ़ाया नहीं वो तो भगवान ने एक संकल्प किया कि ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का ज्ञान प्रकट हो जाए भगवान के संकल्प से ही वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हो गया तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवे मुह्यंत सूरया जिन वेदों का तात्पर्य निर्णय करने में बड़े बड़े पंडित भी मोहित हो जाते हैं और जिस भगवान के स्वरूप में ये संसार शुक्ति में रजत के समान मिथ्या की किरणों में जैसे जल की प्रतीति मिथ्या होती है ऐसे मिथ्या झूठा संसार भी जिसमें सत्य सा मालूम होता है जो अपनी स्वरूप की महिमा से निरस्त कुहकम संसार संसार के संसार के पदार्थों से सर्वथा विरक्त हैं माया और माया के कार्य से सदा जो असंग रहते हैं उन परम सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं तो ये पहले श्लोक में व्यास जी ने हम, हमको ये बताया कि हमारा ध्येय क्या है हमारा ध्येय है परम सत्य परमात्मा अब उनको चाहे हम श्री कृष्ण के रूप में कहें चाहे भगवान सदाशिव के रूप में कहें चाहे दुर्गा के रूप में कहें तो वही अनेक रूपों में है मूल बात ये है ये श्रीमद भागवत जो है कोई सांप्रदायिक ग्रंथ नहीं है ये दार्शनिक ग्रंथ है तो इसमें वास्तविक तत्व का निर्णय किया गया है दूसरे श्लोक में बताते हैं पहले श्लोक में तो बताया हमारा ध्येय क्या है कि हमारा ध्येय है परम सत्य परमात्मा सत्यम परम धीम ही आगे के श्लोक में बताते हैं हमारा ध्येय क्या है तो दूसरे श्लोक में ज्ञेय बताते हैं धर्म धर्माप्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परमेश्वर सद्यो हृदयवरुद्धते प्रकृति शुश्रूषभिस्तत्णा तो व्यास जी लिखते हैं दूसरे श्लोक में कि इसमें निष्काम धर्म का वर्णन किया गया जिसमें कई तक कामना जिसमें नहीं है इसमें निष्काम धर्म का और शुद्ध पवित्र धर्म का निष्काम भक्ति का इसमें वर्णन किया गया है और उसमें सत्पुरुषों के जानने के योग्य जो वस्तु है उसका इसमें वर्णन किया गया है तो जो वस्तु है जिसे जान करके तीनों ताप जो है निवृत्त हो जाते हैं जो कल्याणप्रद वस्तु है शिवदान ऐसी वस्तु को वस्तु जो है इसमें बताई जाती है इस व्यास जी ने जिस ग्रंथ का इस भागवत का निर्माण किया है अरे उसको पढ़ने में से ही कृतकृतता हो जाती है किम्बा पर ही फिर अन्य ग्रंथों के पढ़ने से क्या ये अन्यत्र शास्त्रे ईश्वरे मनोनिरुद्धते इतव पुरुषार्थ अन्य शास्त्रों में ये बात बताई जाती है कि संसार से मन हटा करके भाई भगवान में लगाओ यही सब जगह बात बताई जाती है गीता पढ़ो महाभारत पढ़ो पढ़ो और ग्रंथों को पढ़ो यही बात बताई जाती है कि संसार से मन हटाओ भगवान में लगाओ परंतु इसमें ये विशेषता है कि अद्य ईश्वरा स्वयं हृदय विरुद्ध थे यहां तो भगवान अपने आप हृदय में आकर के आपके जो है विराजमान हो जाते हैं तो फिर अन्य ग्रंथों की क्या आवश्यकता है जब इस ग्रंथ के श्रीमद भागवत सुनने की इच्छा करेगा तो उस समय भगवान श्री कृष्ण परमात्मा इसके प्रतिपाद्य जो देवता हैं वो आपके हृदय में आकर के स्वयं विराजमान हो जाएंगे तो वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवराम ये श्रीधर जी ने इसका अर्थ किया है वास्तवम वस्तु हितविज्ञम वास्तव क्या चीज है कि वस्तुना कार्यम जगत ये जो जगत है और वस्तुना शक्ति माया और वस्तुना अंशो जीवा ये वस्तु एक इसका तात्पर्य है कि ये जीव और जगत और ये माया ये भगवान से पृथक नहीं है भगवत स्वरूप ही है ये बात इसमें जानी जाती है वेद्यम वास्तव मत वस्तु शिवदम ताप मूलनम जिसको जान करके तीनों तापों की निवृत्ति हो जाती है अन्य ग्रंथों के श्रवण के इच्छा को छोड़ करके श्रीमद भागवत का प्रेम से आप लोग श्रवण करें तो ये बात आई कि पहले श्लोक में बताया कि तो उस परम सत्य परमात्मा हमारा ध्येय है दूसरे श्लोक में बताया कि तो वही परम सत्य परमात्मा हमारा ध्येय है उसे जानो तब तो ध्यान करोगे और तीसरे श्लोक में बताते हैं कि वही पेय है पिबत भागवतम रसम निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवत रसमालयम् मुहुरभो रसिका मुधारुकाः ये वेद रूपी जो एक कल्प वृक्ष है तो कहते हैं कि वेद को वृक्ष की उपमा देना एक तो हीनोपमा है तो नहीं वेद को कल्प वृक्ष इसलिए बताया जाता है कि कल्प वृक्ष से तीरे नीचे आप पहुंच जाएं तो उसकी शरण में पहुंच जाएं तो आपकी सारी कामना पूरी हो जाती है इस प्रकार वेद से भी वेद भी आपकी सारी कामनाओं को पूरी करता है धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चार प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं इनको वेद प्रदान करता है इसीलिए इसको कल्प तनु कहा है तो इसका ये फल है श्रीमद भागवत बेल रूपी वृक्ष का फल और फल भी कैसा है ये कच्चा फल है फल नहीं है किसी वृक्ष का फल हो और पका नहीं हो कच्चा हो तो उसमें क्या स्वाद होगा तो इसलिए कहते हैं गलितम फलम ये चुआ हुआ फल है अपने आप पक्का हुआ फल है गलित फल है पका हुआ फल है निगम कल्प तरो गलितम फलम कहते हैं कोई रोग लग जाता है वृक्ष में तो भी फल गिर जाते हैं तो उसमें भी क्या स्वाद होगा तो कहते हैं नहीं वैसे नहीं गिरा है रोग के कारण से ये सुखमुखात दलिता ये तोते भी चौंक से निकला हुआ फल है तो तोता तो उस फल को चौंक लगाता है जो सबसे मीठा होता है इसलिए यहां ये सुखदेव जी से मुख से निकला हुआ ये फल है अमृतमय रस इसमें भरा हुआ है अमृत द्रव संयुतम इसलिए रसम रसम फलम ये सामानाधिकरण है ये रस वाला फल नहीं है रस वाला फल होता है तो उसमें गुठली भी होती है छिलका भी होता है ये रस वाला फल नहीं है किंतु रसम फलम ये रसमय फल है इसलिए हो न तो हो ये खाने का फल नहीं है पीने वाला फल रसमय फल है पियो इसे कब तक आलयम जब तक भगवान की ज्योति में ज्योति आपकी न मिल जाए तब तक इसका पान करते हो ये मत सोचो कि एक बार हमने भागवत सुन लिया है अरे दो बार सुन लिया है नहीं नहीं जब तक आप का भगवान के स्वरूप में आप लीन न हो जाए तब तक इसे सुनते रहो मुंह रहो बारम्बार रसिका हो भावुका अरे भावुको तो इसको बारंबार इसका काम करते इन तीन श्लोकों में ये बात पहले बताई कि वो परम सत्य परमात्मा हमारा देह है वही परम सत्य परमात्मा देह है जानने की वस्तु है और वही परम सत्य परमात्मा पे है उसी का श्रवण करना चाहिए तो इंद्रियों के द्वारा और कहते हैं कि नैमिषारण्य जो क्षेत्र है उसमें एक बार सोनकादिक महर्षि उन्होंने सहस्र वर्ष में पूरे होने वाला एक अनुष्ठान का आरंभ किया एक महान यज्ञ का अनुष्ठान का आरंभ किया जो एक सहस्र वर्ष में पूरा होगा वहां एक दिन सोनकादिक महर्षि बैठे थे प्रातः काल बुद्ध की हुई अग्नियों में हवन करके और सूत जी के पास आकर के बड़े आदर से श्रद्धा से सूत जी से ऋषियों ने कहा सूत जी आपने तो संपूर्ण पुराणों का अध्ययन किया है उसकी व्याख्या भी की है आपने धर्मशास्त्रों को भी पढ़ा है भगवान व्यास जी जो कुछ जानते हैं उससे कम तो आप नहीं जानते क्योंकि आप उनके प्रिय शिष्य हैं गुरु लोग जो होते हैं अपने स्निग्ध प्रिय शिष्य से कुछ छिपाते नहीं है इसलिए हे आयुष्मन आपने प्राणियों के कल्याण का जो साधन निश्चित किया है उनसा एकांत तक तन्न संस्कृत माता से मनुष्य का के कल्याण का जो साधन है हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं कलयुग में प्राय करके अल्प आयु के लोग होंगे और उसमें भी आलसी होंगे और उसमें भी उनकी बुद्धि मंद होगी भाग्य भी मंद होंगे शरीर में अनेक रोग होंगे और कर्तव्य कर्म तो शास्त्रों में बहुत हैं इसलिए सूत जी जो सार बात है वो आप हमको बताइए ब्रूहिण शब्दानाम ये आत्मा संप्रसीयती जिस साधन के करने से जीव कृत कृत्य हो जाता है वो साधन हम आपसे सुनना चाहते हैं और आप कृपा करके ये भी बताइए भगवान श्री कृष्ण जो हैं देवकी के गर्भ से वसुदेव के घर में देवकी के यहां क्या कार्य करने के लिए भगवान प्रकट हुए थे उन्होंने किस लिए अवतार ग्रहण किया था जिनका जिनके चरणों का आश्रय लेकर के महात्मा तत्काल पवित्र कर देते हैं संतों में पवित्रता कहां से आई कि यद पाद संश्रया सुनता मुनया प्रथमाय भगवान के चरणों का आश्रय लेने से भगवान के चरणों का ध्यान करने से साधु संत स्वयं पवित्र हो जाते हैं गंगा तो बारंबार स्नान करने से पवित्र करती है परंतु वो संत जो हैं एक बार के दर्शन करने में पवित्र कर देते हैं उन भगवान के चरित्रों को भी हम सुनना चाहते हैं ये व्यास जी के मुख से हमने बहुत कुछ सुना है परंतु तृप्ति नहीं होती इसलिए कृपा करके और इन भगवान के चरित्र भी आप हमको सुनाएं त्वना संदर्शितो धात्रा दुष्करम निष्ठीर्षताम इस समय इस वैष्णव क्षेत्र में हम एक हजार वर्ष का अनुष्ठान लेकर के बैठे हैं तो इसलिए महाराज इस समय हम कैसे पूरा करते हैं भगवान ने कृपा करके आपको सूची हमारे पास भेज दिया है इसलिए आप ये भी बात हमको बताइए भगवान श्री कृष्ण जब अपने स्वधाम को जब चले गए और तो फिर धर्म की रक्षा कैसे हुई धर्म हम शरण कर व्यास जी कहते हैं कि सूत जी ये प्रश्न सुन करके प्रसन्न हो गए और उनकी बड़ी प्रशंसा की वो ऋषि हो तुम धन्य हो आप लोगों ने एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया है उत्तर देने के पहले वो जिनको अपना गुरु मानते सुखदेव जी का पहले उन्होंने स्मरण किया यम प्रव्रजन तमनुते तमसेत कृत्यम द्वैपायनो विराता पर आदुराव पुत्रे तन्मयतया तरदोभिने दुस्तम् सर्वभूतहृदयम् मुनिमानतोऽस्मि सूत जी कहते हैं यम प्रव्रजंतम परित्यज्य सर्वम गंतम सुखदेव जी सब कुछ त्याग करके एक साथ उत्तराखंड को जा रहे व्यास जी तो ये प्रतीक्षा कर रहे थे थोड़ा और ये बड़ा होगा तो हम इसका ये दुख भी करेंगे वेद पढ़ाएंगे और फिर देखा उन्होंने एक दिन तो उसको तो स्वयं विरक्त होकर के उत्तराखंड को जा रहे हैं नंगे धड़ंगे यम प्रजनतम परित्यज्य सर्वम गच्छंतम सब कुछ छोड़ करके अवधूत देश में उत्तराखंड को जाने लगे अनुपेतम तो बने न यज्ञोपवीत भी जब तक नहीं हुआ था और संन्यास लेकर के चल दिए व्यास जी कहते हैं ये तो समय तो हमारा था संन्यास लेकर के हमको जाना चाहिए था हमसे पहले ही महात्मा चल दिया पाए वो ग्रह का कि अपने पुत्र के वियोग से दुखी हो गए और आज भाव पुत्रे तन्मय रहा पुत्रो हे पुत्रो हे पुत्रो हे पुत्र हे बेटा हे बेटा ऐसे पुत्री तन्मयतया करो विने सर्वभूत हृदय तो पिताजी पीछे पीछे कहते जाते हैं हे पुत्रो पुत्रो पुत्रो पर सुखदेव जी ने पीछे को फिर करके नहीं देखा उनकी ओर से वृक्षया ने ही माना उत्तर दिया वृक्षों ने क्या उत्तर दिया ओ व्यास जी तन्मयतया ब्रह्म भावना अयम सर्वभूतानाम व्रत ये जो तुम्हारा पुत्र है ये तो ब्रह्म की भावना से साक्षात ब्रह्म स्वरूप है ये तो सबका अंतरात्मा है तन्मयतया ब्रह्म भावनाया अयम सर्वभूतानाम व्रत ये तो संपूर्ण कर्मियों का अंतर आत्मा है तुम्हारा ही पुत्र नहीं है और आप तो स्वयं ज्ञानी हैं विवेकी हैं आपको इस तरह से मोह में आकर के दुखी नहीं होना चाहिए देखो हम भी तो हम भी तो सृष्टि के अंतर्गत हैं दो प्रकार की सृष्टि होती है स्थावर और जंगम वयम स्थावर यथा मोह शून्य तथा भगवद भवितव्य जैसे हम स्थावर मोह शून्य एक वृक्ष से एक वृक्ष उत्पन्न हो जाता है तो उसको कोई पुत्र थोड़ी मानता है या उस वृक्ष के कट जाने पर कोई दुखी थोड़ी होता है इसलिए आपको भी ऐसे ही होना चाहिए तो वृक्षों ने उत्तर दिया सुखदेवी ने पीछे को फिर करके नहीं यह स्वानुभाव मखेला सुखसार नहीं कहो जिसका अद्भुत प्रभाव है जो श्रुतियों का सार है अध्यात्म को प्रकाशित करने वाला जो ग्रंथ है श्रीमद भागवत हाँ? वो संसारणाम करणया पुराण बीजम वो संसारी व्यक्तियों पर कृपा करके परीक्षित के मार्ग ने सुनाया उन व्यास नंदन सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तम देवी सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुद्युदय सूर्य कहते हैं ऋषियों तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया सबई तुमसाम करो धर्मो यतो भक्ति रघोक्ष कहते मनुष्य के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन वह है जिस साधन के करने से भगवान के चरणों में भक्ति का उदय हो ऋषियों ने पूछा था ना कि हमको कोई साधन बताइए सुंदर तो कहते हैं सूत जी कि मनुष्य के लिए सबसे सुंदर श्रेष्ठ साधन वो है जिस साधन के करने से भगवान के चरणों में प्रीति का उदय हो भक्ति का उदय हो सभी काम करो धर्मो यह तो भक्ति रथोक्ष वो अपर धर्म है स्वर्ग के की प्राप्त कराने वाला जो धर्म है वो अपर धर्म है और भगवान की भक्ति को प्राप्त कराने वाला और भक्ति भी कैसी हो अहित की जिसमें कोई कामना न हो अप्रतिहता विघ्नई रणभूता जिसमें कोई विघ्न आकर के प्रतिबंध न कर दे कोई विघ्न न आवे बीच में निष्काम भक्ति हो यानी हम भगवान का ध्यान भजन भी करें तो उसके बीच में कोई कामना न हो संसार की कामना को लेकर के भजन मत करो निष्काम भाव से भगवान कर दे एक महात्मा तो कहा करते थे कि तुम अपने कल्याण की कामना से ही भगवान का भजन मत करो ये सोच रहा था हमारा भजन कर भजन कर भगवान का भजन करने से हमारा कल्याण होगा अभी कल्याण होगा तो फिर तुम्हें अपना कल्याण प्यारा है भगवान प्यारे कहां हाँ। तो इसलिए अपने कल्याण की भी मत सोचो उसको बस भगवान का ध्यान भजन करना हमारा कर्तव्य है ऐसे निष्काम भाव से भगवान का भजन करना आयुध की भक्ति हो और अप्रतिहता हो ऐसी भक्ति जब जीव के हृदय में आती है तो वो जीव जो है तृप्त हो जाता है आय आयुक्त तो प्रख्यता यह ययात्मा संप्रसीदती वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोगिता जनयत्याग वैराग्यम ज्ञान यदाय यदायुतम के चरणों में जब भक्ति की जाती है तो शीघ्र ही ज्ञान और वैराग्य का उदय होता है हम भगवान का भजन कर रहे हैं भगवान से प्रेम कर रहे हैं और ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हुए तो कोई कमी है न्यूनता है धर्म स्वनिष्ठता पुरुषान विश्वक सेन तथा हम धर्म का पालन कर रहे हैं और भगवान की कथा में रति नहीं हुई प्रेम नहीं हुआ भगवान के चरणों में प्रीति नहीं हुई तो हमारा श्रम ही श्रम है मूर्पादे यद्यपिन श्रम एवं केवल धर्म से व्यापवर्ग से धर्म का मुख्य फल है मोक्ष धर्म से अर्थ मिल जाना अर्थ की प्राप्ति हो जाना धर्म का मुख्य फल नहीं है उसका गौण फल है धर्म से याप वर्ग से नार्थोत्थाय नार्थोत्थायोपकल्पते नार्थ से धर्म ही काम से कामूलाभाय अर्थ का मुख्य फल क्या है कि उसे धर्म का आचरण करना अपने ऐश आराम में खर्च करना धन का मुख्य फल नहीं है और संसार की विषय भोग का फल संसार की वस्तुओं का सेवन करने का फल क्या है कि जिससे जीवन बना है और जीवन का फल क्या है तत्व की जिज्ञासा काम सुनिंद्रिय प्रिय फिर लाभो जीने होता जीव से तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्य कर्म जीवन का फल है उससे हम तत्व की जिज्ञासा करें ये नहीं है कि बड़े बड़े व्यापार करना बड़े बड़े मिल खोल देना ये कोई जीवन का फल नहीं है जीवन का फल है कि उसमें तत्व की जिज्ञासा तो तत्व क्या है यहां धर्म का फल मुक्त बताया मोक्ष अर्थ का फल है धर्म और काम का संसार की वस्तुओं का उपभोग करने का फल है जीवन चलना जीवन का फल है तत्व की जिज्ञासा कामशरेन्द्रिय प्रीति ये संसार के विषयों से तुम इंद्रियों की तृप्ति कर लोगे ये नहीं हो सकता है भगवान व्यास अपने भाष में लिखते हैं नचेन्द्रिया नाम होगा व्यास न वही कर तुम सत्यम तुम संसार के विषयों को भोग करके इंद्रियों को तृप्त नहीं कर सकते भोगाभ्यास मन विवर्धन से राधा कौशलन से इंद्रिया संसार के विषयों को भोगने से तो इंद्रियों का कौशल बढ़ता है और राग बढ़ता है तृप्त नहीं होती इंद्रियों को तो विचार से ही रस में दिया जाता है तो इस तरह से इन्होंने धर्म का मुख्य है फल मोक्ष और धर्म का फल है उसे धर्म का आचरण करना और जीवन का फल है तत्व की जिज्ञास एक पंडित ये बताते थे कि ये धर्म अर्थ काम मोक्ष चार जो पुरुषार्थ हैं ये आपस में विरोधी वो बताते थे